प्रशिक्षण का क्रम प्रारंभ करते हैं अपने अपने अनुकूल आसन को व्यवस्थित कर लें अपनी शारीरिक स्थिति से संतुष्ट हो लें यदि कहीं कोई बाधा दबाव खिंचाव हो तो उसे व्यवस्थित कर लें शरीर को स्थिर बनाकर नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव को मानसिक प्रयास से शिथिल करते जाएं, ढीला छोड़ दें संपूर्ण शरीर को स्थिर व्यवस्थित करने के बाद शरीर को समग्र दृष्टि से देखें शारीरिक स्थिति की अनुभूति बनाएं पहचान बनाएं पूरे एक घंटे के काल में संभव यही स्थिति बनाए रखें नेत्र बंद रहेंगे यदि बीच में किन्हीं को बाधा हो उठ के जाना हो तो धीरे से उठ के जा सकते हैं अन्यों को बाधा ना हो ये ध्यान रखें जिन्हें खांसी अधिक आए वे कृपया बाहर चले जाएं। मन में प्रसन्नता का भाव लाएं प्रातः काल की उपासना के बाद से सायकाल की उपासना तक मैंने योग मार्ग पर चलने का यत्न किया है और अब मैं ध्यान काल में आत्मविश्वास के साथ ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होने जा रहा हूं उपासना को भी मैं पूरे प्रयत्न से जागरूकता से करूंगा पिछली त्रुटियों को न होने देने का प्रयत्न रखूंगा संकल्प अब मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें आते जाते श्वास का अनुभव करें लंबा लंबा करें समान गति से अंत श्वसन और बहिश्वसन नियंत्रण के साथ श्वास प्रश्वास दीर्घ श्वसन के साथ मन की स्थिति में हो रहे परिवर्तन को देखें मन शांत हो रहा है स्थिर हो रहा है आभा के तीन बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भरें वेग से बाहर निकालें मूल बंध लगाएं नाभि के नीचे पेड़ू का भाग पीछे खींचें घबराहट होने तक यथाशक्ति रोके रखें सामर्थ्य पूरा होने पर श्वास ले लें मूल बंद छोड़ दें एक तो सामान्य श्वास इसी प्रकार दो और कर लें प्राणायाम के बाद मन पर पड़े प्रभाव को देखें आगे प्रत्याहार की स्थिति बनाए यथा संभव बाहर के विषयों की ओर इंद्रियों को नहीं लगाए रखना है यदि कोई विषय इंद्रिय के संपर्क में आता भी है तो आगे उसे विषय न बनाते हुए आंतरिक कार्य ध्यान उपासना करते रहना है अंतर्मुखी मन को आप धारणा स्थल पर टिकाएं वहां की संवेदना को पकड़ते हुए मन को उस स्थान पर स्थिर कर दें संवेदनाओं को पीछे छोड़ते हुए मन को इसी स्थान पर टिकाए रखते हुए आगे ओम के माध्यम से ईश्वर की स्तुति ध्यान का अभ्यास ओम के सर्वशक्तिमान अर्थ की भावना उभार के रखेंगे अनुरूप सुनकर साथ साथ बोलेंगे मौन रहना है तो मौन रहेंगे मानसिक जप करेंगे शक्तिमान है इस अत्यंत बृहत पृथ्वी को आपने बनाया आप इसे धारण कर रहे हैं इससे भी कई लाख गुना बड़े सूर्य को भी आपने बनाया और धारण कर रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी सर्वशक्तिमत्ता को बता रहा है आप सर्वशक्तिमान हैं मैं अत्यंत अल्प शक्ति वाला आत्मा आपकी निकटता के लिए आपकी प्राप्ति के लिए आपका ध्यान कर रहा हूं हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है ओ Oh. सर्वशक्तिमान अर्थ की भावना करते रहें श्रीमान परमात्मा की निकटता सर्वशक्तिमान परमात्मा की मित्रता पाकर मुझ अल्प शक्तिमान आत्मा को किस बात का भय हो सर्वशक्तिमान परमात्मा सदैव मेरे साथ है शक्तिमान परमात्मा की व्यवस्था से नियमों से कौन बच सकता है हे प्रभु इतने शक्तिशाली आपके नियमों में चलना ही मेरे लिए कल्याणकारक है आप सर्वशक्तिमान हैं आप धीरे से रुकेंगे शरीर में यदि कहीं तनाव ले आए हों तो उसे ढीला कर दें शिथिल कर दें धारणा स्थल छूट गया हो तो पुनः लगा लें परमात्मा से इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान की कामना आज का दिन ईश्वर के ज्ञान के अनुरूप चलाने का मैंने प्रयास किया प्रकार आगे भी रात्रि भी मेरी ईश्वरीय निर्देश के अनुसार चले प्रभु से प्रेरणा सत्बुद्धि की प्रार्थना करते चलेंगे गायत्री मंत्र और गीतिका का अर्थ धियो यो नः प्रचोदया शुद्ध ज्ञान की छाया में मेरा प्रत्येक कर्म चले शुद्ध चैन के अनुरूप मेरा प्रत्येक व्यवहार हो सके हे प्रभु इसके लिए अपनी सत्प्रेरणाएं मेरे लिए आगे भी बनाए रखें मुझे आपकी सत्प्रेरणाओं की आवश्यकता अनिवार्यता अनुभव में आने लगी है मानसिक गायत्री का जप अर्थ की भावना के साथ केवल गायत्री मंत्र का जप अर्थ की भावना धीरे से रुकेंगे आंतरिक स्थिति वही बनाए रखते हुए इन्हीं भावों को कविता के माध्यम से और उभारेंगे प्राण संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओ माता पिता वरेण्यं सविता माता पिता वरेण्यम् भगवन भ्राता शुद्ध स्वरूप करें हम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्वविधाता मो विश्वविधाता से शुद्ध ज्ञान सतत मिलता रहे मैं अपने को अधिकाधिक एकाग्र करता हुआ निर्मल करता हुआ ईश्वर के ज्ञान को अधिक स्पष्टता से पकड़ता जाऊं ग्रहण करता जाऊं स्वीकार करता जाऊं मेरे जीवन का कल्याण इसी में है अब आगे वैदिक संध्या संध्या के मंत्रों के माध्यम से ध्यान का अभ्यास ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ईश्वर की कृपा वृष्टि आगे भी बनी रहे अपने को प्रार्थना के योग्य समझें आज मैंने ईश्वर द्वारा प्रदत्त शरीर बुद्धि आदि साधनों का उपयोग ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलने में लगाया है ईश्वर की कृपा सतत बनी रहे ये कामना प्रार्थना ओ ईश्वर की कृपा सर्वत्र विद्यमान है क्योंकि ईश्वर भी सर्वत्र व्यापक है ईश्वर की कृपा में रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है अकला मंत्र आज किए गए इंद्रियों के सबलता के प्रयास को स्मरण रखते हुए और सबलता बनाए रखने की प्रार्थना उस उस अंग पर मन को केंद्रित करते चले पक्षः आगे सबल इंद्रियों की पवित्रता की कामना आज इंद्रियों को पवित्र कर्मों में लगाए रखा उसका प्रयास किया अपने पुरुषार्थ के स्मरण पूर्वक ईश्वर से इन्हें और पवित्रता की प्राप्ति की कामना प्रार्थना ओ... से तपः पुनातुपादयो सत्यं पुनातु पुनः शिरसि परम पवित्र परमात्मा की सन्निधि में अपने एक एक अवयव एक एक इंद्रिय को पवित्र कार्यों में लगाए जाते हुए अपने को देखें परमात्मा की पवित्रता जब मन में विद्यमान हो तो मेरा प्रत्येक कर्म पवित्र होता रहता है अगला मंत्र ईश्वर के गुणों का स्मरण ओ हर्षण मंत्र परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य को स्मरण रखते हुए अपने पाप को दुर्भावना को मसल डालना है क्षीण करना है ऋतञ्च सत्यञ्चाभिथा तपसोऽध्यजायत रात्र्यजा शतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीं च परमात्मा समस्त ब्रह्मांड आपने बनाया है ये दिन और रात आपकी व्यवस्था से बन रहे हैं आपकी अत्यंत शक्ति है मैं यदि पाप करूं दुर्भावना करूं और उनके दंड से कितना भी बचने का प्रयास करूं तो भी मैं उससे किंचित भी बच नहीं सकता जब मुझे निश्चित दंड होना ही है तो मैं छोटे से सुख के लिए छोटे से लाभ के लिए क्यों पाप करूं क्यों बड़े दंड का भागी बनूं अपने किसी एक अघ को पाप को अथवा दुर्भावना को मन में उभारें और उसे परमात्मा की शक्तिमत्ता देखते हुए अपने से दूर हटता हुआ देखें क्षीण होता हुआ देखें ये पाप कर्म ये दुर्भावना मुझे निश्चित बड़े दंड की ओर ले जा रही है मुझे ऐसे पाप से ऐसी दुर्भावना से प्रियता क्यों हो एक पाप या दुर्भावना को पकड़कर अखमर्षण करें पाप को और दुर्भावना को दुर्बल देखते हुए अपने से दूर देखते हुए अब उस परिस्थिति में अपने को ले जाएं जिनमें वह पाप या दुर्भावना व्यवहार काल में हो जाती है उस परिस्थिति विशेष में अपने को मानसिक रूप से खड़ा करें और देखें कि मैं उस परिस्थिति में भी इस अघ से पाप से दुर्भावना से बचा हुआ हूं मानसिक स्थिति बनाएं पाप से दुर्भावना से दूर होने पर कितनी अच्छी अनुभूति होती है कितना हल्कापन लगता है अब धीरे से रुकेंगे उपासना ध्यान से उठने से पूर्व आज की अपनी उपासना का निरीक्षण करें आसन कैसा रहा एकाग्रता कितनी रही ईश्वर की निकटता कितनी अनुभव की धारणा कैसी रही उच्च सात्विक स्थिति में कितना सुख आनंद प्राप्त हुआ कहां कहां शिथिलता रही न्यूनता रही कितनी देर सांसारिक चिंतन अथवा आलस्य रहा अच्छे ध्यान के लिए परमात्मा को धन्यवाद जो अंश शिथिल रहे उन्हें आगे और अच्छी तरह करने का संकल्प अब आज की उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षणों का स्मरण सर्वश्रेष्ठ स्थिति का स्मरण करें बहुत अच्छी तरह उस स्मृति को उभारें स्मृति के अच्छा उभरने पर वर्तमान में स्वयं को उसी स्थिति में पहुंचा दें इस आंतरिक स्थिति का स्मरण अधिकाधिक देर तक बनाए रखें व्यवहार काल में जब तभी अधर्म की ओर प्रवृत्ति हो कुसंस्कार उभरे तो इसी स्थिति का स्मरण करके अपने को पुनः संभाल लें अधर्म और कुसंस्कारों से अपने को बचाते रहें मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए नेत्रों को बंद रखते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों में धीरे धीरे गति प्रदान करें ये अभ्यास किया जा रहा है कि शारीरिक गति करते हुए भी कैसे आंतरिक स्थिति बनाए रखी जाती है हथेलियों को धीरे धीरे बंद करें खोल लें हाथों को धीरे धीरे भिन्न स्थान पर ले जाएं दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाकर सहारा देकर पीछे थोड़ा झुक जाएं दोनों पैरों के पंजों को धीरे धीरे गति प्रदान करें जागरूकता के साथ आंतरिक स्थिति बनाए रखने का यत्न करें टखनों को गतिशील करें घुटनों को खोल लें नेत्रों को थोड़ा सा खोलें दृष्टि नीचे संतुलन बनाए रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं नेत्रों को पुनः बंद कर लें दोनों हाथ अभिवादन मुद्रा में गीत की पंक्ति दोहराएंगे प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा मन अर्पण है सारा बड़े चले हम रुके न क्षण भी बड़े चले हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा हो यह दृढ़ संकल्प हमारा द्वारा आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे थोड़े से नेत्र खोल लें दृष्टि नीची रखते हुए वृत्तियों को बिखरने न दें आंतरिक स्थिति बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे के लिए प्रस्थान करेंगे ओम शम